हृदय घात जिनको भी होने की शक्यता है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है हृदय विकार वाले मरीज सामने से बताते हैं कि उनको धाप बहुत लगती है थोड़ा भी चले तो सांस भरती है थोड़ा भी चलने पर तो बैठना पड़ता है सीढ़ी चढ़े तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं दम निकल जाती है तो समझ लो हमको बहुत जल्दी हृदय घात आने वाला है ऐसे सभी लोगों को बताइए कि दूधी भोपले का रस पियो एक एक गिलास दूधी भोपड़ा नहीं दो टाइम सकाड़ी संध्या काड़ी कम से कम तीन महीने दूधी भोपड़े के रस में ज्यादा से ज्यादा मिरी डालना बस और कुछ नहीं डालना काली मिरी टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा चाहे तो कोथमीर का रस भी डाल सकते हैं पुदीने का रस भी डाल सकते हैं एक गिलास सुबह एक शाम सुबह पीना है खाली पेट शाम को पीना है भोजन से एक तास पहले वो तो होता ही है सबका ही होता है, है? मेरी बस मेरी थोड़ा सा टेस्ट के लिए हृदय विकार उसी से आता है जो मैं सवेरे बता रहा था डायबिटीज की कहानी वही हृदय विकार की है जब खून बहुत घट हो जाता है तो हृदय को जाने वाले रास्ते से और आने वाले रास्ते से मुश्किल से पास होता है तो वो रास्ते में चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे जगह कम होती जाती है माने वो जड़ होती जाती है नली फिर जितना रक्त चाहिए वो मिलता नहीं तो दर्द होता है हृदय जो है ना रक्त देता है शरीर को और स्वयं भी रक्त लेता है अपने लिए दोनों काम वो एक साथ करता है तो हृदय को अपना रक्त मिलना जब कम होता है तो हृदय घात होता है शरीर को तो वो बराबर देता है समय से देता है खुद को जो उसको वक्त चाहिए काम करने के लिए वो नहीं मिलता कम मिलता है या मुश्किल से मिलता है तो हृदय घात होता है तो अगर आप दूधी भोपला देंगे तो जो जड़ हो गई हैं नसें वो सब नरम हो जाती है नरम हो जाती है तो रक्त प्रवाह आसान हो जाता है तो हृदय घात नहीं होता खतरा निकल जाता है और जो हो गया हृदय घात तो पांच लाख रुपए खर्च होते हैं उसके बाद भी गारंटी कुछ नहीं है दोबारा फिर हृदयघात आता है हम्म। फिर नहीं आएगा दोबारा ये जिसको भी दे दिया उसको नहीं आएगा एकोनाइट दे सकते हैं एकोनाइट एक औषधि है हृदयघात होने पर तुरंत दे सकते हैं वो जान बचा लेती है लिख लो आप उसको ए सी ओ एन आई टी ई उसको भी ऐसे ही दो दो थे हम जीप पर